आप फरमा दीजिए मुसलमानों अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुनबा और वो माल जो तुमने खुद कमाए हैं और वो तिजारत जिसमें खसारे से तुम डरते हो और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो अगर ये सब तुम्हें ज्यादा महबूब हैं अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु से और उसकी राह में जिहाद करने से तो तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म अजाब ले आए और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता